और जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं हम उन्हें जरूर नेक लोगों में शामिल करेंगे